परम पिता परमात्मा का स्मरण अत्यंत महान सबसे बड़े परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ ओ प्रेमी सज्जनों परम पिता परमात्मा को हम स्वीकार करते हैं परमात्मा का कैसा स्वरूप हमारे मन में होना चाहिए उसका एक विवरण इस मंत्र में प्रस्तुत किया गया है ये मंत्र यजुर्वेद के तेरहवें अध्याय का तीसरा मंत्र है आर्यभिविनय के द्वितीय प्रकाश का ये अट्ठाईसवां मंत्र है परमात्मा का स्वरूप बताते हुए बहुत से विशेषण इस मंत्र में दिए गए हैं पहले कहा ब्रह्म जज्ञानम प्रथमम पुरस्तात वो परमात्मा ब्रह्म है सबसे बड़ा है महर्षि दयानंद इसके लिए लिखते हैं हे महीय परमेश्वर आप बड़ों से भी बड़े हो आपसे बड़ा व आपके तुल्य कोई नहीं है परमात्मा के प्रति आर्य का मनुष्य का ये भाव होना आवश्यक है कि वो परमात्मा को उसके स्वरूप के अनुरूप बड़ा माने संसार में रहते हुए हम विभिन्न व्यक्तियों को अपने से बड़ा समझते हैं उसको कम कीजिए प्रारंभ जो हो जाता है उसके बाद में उसको बदला मत करो यदि कोई आवश्यकता होगी तो वो बताएंगे तब फिर करना है आप लोगों को पता नहीं लगता है इसकी जो गूंज है चारों तरफ वो इसके अंदर जाती है जो स्पीकर चलते हैं ना वो भी उसमें जाती है उस दृष्टि से उसको इतना रखा जाता है कि उसमें भी बाधा नहीं हो और सबको सुनाई भी दे जाए उनका केवल पढ़ाइए वहां वाला और कुछ नहीं तो परमात्मा को हम ब्रह्म स्वीकार करें सबसे बड़ा स्वीकार करें संसार में हम विभिन्न व्यक्तियों को अपने से बड़ा देखते हैं स्वीकार करते हैं धन की दृष्टि से शरीर की दृष्टि से ज्ञान की दृष्टि से कार्य पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से और विभिन्न गुणों की दृष्टि से जिन जिन को हम बड़ा मानते हैं उनके प्रति हम आकर्षित होते हैं उनसे हम प्रभावित होते हैं और प्रभावित होके हम उन जैसा बनना चाहते हैं प्रभावित होकर के हम उनकी निकटता चाहते हैं ये विभिन्न क्षेत्रों में हमें दिखाई देता है अपने जीवन में अन्यों के जीवन में तो आत्मा का क्या स्वभाव है कि वो बड़े को चाहता है बड़े से प्रभावित होता है बड़े की सन्निधि चाहता है और उससे लाभ उठाना चाहता है उस जैसा बनना चाहता है विभिन्न मनुष्य विभिन्न महापुरुषों को पूज्य आदर के योग्य श्रद्धे समझते हैं और फिर वो उनके कहे अनुसार चलते हैं उनके जैसा बनना चाहते हैं उनके जैसा बनते हैं जिसे हम बड़ा मानते हैं उसके अनुसार चलने की भी प्रवृत्ति हमारी होती है जिसे हम बड़ा मानते हैं उसके अनुसार करने की उसके अनुसार दिखने की हमारी प्रवृत्ति होती है और मनुष्यों में उनके आकर्षण के केंद्र भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हैं किन्हीं के महापुरुष किन्हीं के देशभक्त किन्हीं के धनवान किन्हीं के विद्वान किन्हीं के अभिनेता इत्यादि किन्हीं के अपने माता पिता बुजुर्ग ये आकर्षण के केंद्र होते हैं वो उन्हें बड़ा मानता है यदि मनुष्य इनको बड़ा मानता रहे और इन्हीं को सबसे बड़ा मानता रहे तो इन्हीं के अनुसार चलता रहेगा इनका अनुसरण करता रहेगा और चूंकि ये सब बड़े व्यक्ति हमारे पूजनीय हैं लेकिन ये भी मनुष्य हैं ये सर्वज्ञ नहीं होते इनसे भी त्रुटियां हो सकती हैं ये परमात्मा जितने ज्ञानवान परमात्मा जितने शक्तिशाली परमात्मा जितने रक्षक कभी नहीं हो सकते जिस व्यक्ति के मन में प्रत्यक्ष मनुष्य आदर्श का केंद्र बना हुआ है वो व्यक्ति समय आने पर विशेष परिस्थितियों में जहां निर्णय करना हो द्वंद्व हो वहां उन्हीं के अनुसार निर्णय कर लेता है और वैसा ही आचरण में ले आता है तो यहां मंत्र में परमात्मा को ब्रह्म कहा और महर्षि दयानंद का विशेष आग्रह है विशेष व्याख्यान है कि हम परमात्मा को ही सबसे बड़ा माने उसके तुल्य किसी को न माने चूंकि परमात्मा जितना बड़ा कोई नहीं है परमात्मा के तुल्य कोई नहीं है इसलिए हमें ऐसा ही मानना है और इसके निहितार्थ ये है कि हम सदा परमात्मा से ही प्रभावित रहें हम सदा परमात्मा से ही सर्वाधिक आकर्षित रहें हम सदा परमात्मा के अनुरूप ही जीवन को चलाएं हम सदा परमात्मा जैसा ही बनना चाहें उसके स्वभाव के अनुरूप हम भी बने जब आर्य के मन में परमात्मा ब्रह्म स्वरूप में रहेगा सबसे बड़ा रहेगा वो उससे प्रभावित रहेगा तो जब जब भी जीवन में संदेह उत्पन्न होंगे निर्णय के लिए अवसर प्राप्त होंगे तो वो परमात्मा के अनुरूप निर्णय करेगा वो अन्य व्यक्तियों के अनुरूप निर्णय नहीं करेगा दूसरे भी बहुत से बड़े हैं और हम उनसे प्रभावित होते हैं लेकिन यदि दोनों में भिन्नता हो निर्णय और निर्देश में भिन्नता हो तो आर्य परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप ही निर्णय करेगा ये एक कसौटी बन जाती है अंतिम क्षणों में संकट के क्षणों में एकदम से हम परमात्मा के अनुरूप नहीं कर पाते कारण कि हम परमात्मा को ब्रह्म रूप में स्वीकार नहीं किए हुए होते हैं परमात्मा को उतनी गहराई से ब्रह्म रूप में नहीं मानते हैं इसलिए उन स्थितियों में अन्यों से प्रभावित होकर के उनके अनुरूप कर्म कर देते हैं ये हमारी न्यूनता है तो आर्य का ये प्रथम कर्तव्य है कि परमात्मा को ही सबसे बड़ा माने परमात्मा सबसे बड़ा है इसलिए और परमात्मा को सबसे बड़ा मानने में ही हमारा सर्वाधिक हित है इसलिए पहला शब्द यहां पर परमात्मा को ब्रह्म कहा और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है हम सामान्य रूप से परमात्मा को सबसे बड़ा कह देते हैं सबसे अधिक शक्तिशाली कह देते हैं सबसे अधिक ज्ञानवान कह देते हैं पर उसका जो भाव है उसका जो अर्थ है उसके साथ जो अनुभूति है उसकी गहराई समान नहीं होती उसमें भिन्नता होती है हम अंदर से परमात्मा को ब्रह्म स्वीकारें और ब्रह्म स्वीकारते हुए उसके जो निहित अर्थ हैं उसकी जो परिपालना है उसको भी मन में रखें इसलिए परमात्मा को यहां ब्रह्म कहा और ब्रह्म कैसा है वो जज्ञानम वो सर्वस्व जनकम सबका जनक है और विद्यात्री सबको जानने वाला है मूलतः परमात्मा ही सबका जनक है और कहा पुरस्तात वो इस सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान था पहले से विद्यमान था और प्रथमम वो अत्यंत विस्तृत फैला हुआ सर्वव्यापक है ब्रह्म जज्ञानम प्रथमम पुरस्तात विस्तीमत सुरुचो वेन आवा सीमत महर्षि खोलते हैं कि जो सूर्यादि लोक सीमत सीमा से युक्त हैं ये जितने भी लोक हैं वो अपनी अपनी सीमा से युक्त हैं बधे हुए हैं असीमित नहीं है परमात्मा प्रथमम है फैला है सब जगह लेकिन ये सब सीमित हैं नियमित हैं व्यवस्थित हैं अपनी अपनी मर्यादा से युक्त होते हुए सुरुचह प्रकाशित हो रहे हैं प्रकाशमान है इसके पीछे ये भाव छुपा है कि परमात्मा इनको सीमित करता है परमात्मा इनको सीमित रखता है और परमात्मा की व्यवस्था से ही ये प्रकाशित होते हैं आगे परमात्मा का विशेषण दिया वे न आप कमनीय हैं कामना के योग्य हैं जब परमात्मा को वे कहा गया कमनीय कहा गया तो उसका यह भी अर्थ नहीं है कि संसार में कुछ कमनीय होता ही नहीं है चाहने योग्य होता ही नहीं है होता है यह हमारा प्रत्यक्ष है लेकिन जब परमात्मा को वेना कहा गया तो चाहने वालों में भी जो सबसे अधिक चाहा जाने योग्य है सबसे अधिक कमनीय है वो परमात्मा है जहां फिर दोनों बातों में संदेह हो कि मैं इसको कमनीय समझूं या उसको एक को एक की कामना करने से दूसरा छूट रहा है दूसरे की कामना करने से पहला छूट रहा है तो दोनों में से किसको मैं चाहूं तो वहां वे न परमात्मा सबसे अधिक कमनीय है उसी को हमें चाहना चाहिए आगे कहा आवह वो इस सबको आवरण करके बैठा हुआ है सबको आच्छादित करके बैठा है विश्रीमता का वी यहां पर वी आवह इन सब लोगों को विविध नियमों से पृथक पृथक यथा योग्य वो ही वर्ता रहा है क्योंकि वो सब जगह व्यापक है वो सबको आवरण किए हुए है सब तक पहुंचा हुआ है पहले से पहुंचा हुआ है उसी में ये विद्यमान है परमात्मा ही इन सबको चला रहा है तो जो लोक लोकांतर हमें आश्चर्यचकित करते हैं उनके स्वरूप को उनकी शक्ति को हम अद्भुत मानते हैं उन सबको भी वही परमात्मा धारण कर रहा है इतना वो बड़ा है इतना वो ब्रह्म है आगे कहा स बुद्धिया उपमा अस्य विष्ठा वही परमात्मा वह ब्रह्म जो कि प्रथमम है जज्ञानम है पुरस्तात है वह परमात्मा बुद्धन्या बुद्धम अंतरिक्ष के लिए आता है और अंतरिक्ष में जो रहते हैं उनको बुद्धनीय बोलते हैं इसलिए महर्षि ने इसका अर्थ किया अंतरिक्षांतर्गत दिशादि पदार्थों को अंतरिक्ष में जो भी विद्यमान है और उसमें दिशादि का निर्धारण उनका विभाजन विवाह परमात्मा ही विभक्त करता है परमात्मा की ये व्यवस्था है जिससे हम विभिन्न दिशादि का व्यवहार कर पाते हैं आगे कहा उपमा इसको महर्षि ने खोला कि अंतरिक्ष में ये जितनी चीजें हैं उन सब ये इन सबको वो व्यवहारों में उपयुक्त करता है ठीक ठीक लगाता है ये सब प्रयुक्त तो होते हैं विशेष रूप से बने हुए ये हमारे हित के लिए प्रयुक्त होते हैं और इस सब संसार की अस्य विष्ठा विशेष रूप से स्थान वही परमात्मा है इनका निवास स्थान वही परमात्मा है सामान्य भाषा में हम कह देते हैं कि जो अवकाश है रिक्त स्थान है जिसे हम स्थान या जगह के नाम से भी बोलते हैं उसमें ये लोक लोकांतर रह रहे हैं लेकिन वास्तव में रिक्त स्थान तो कहीं है ही नहीं वो परमात्मा ही सब जगह है ये लोक लोकांतर परमात्मा में ही ठहर रहे हैं उसी में विद्यमान है आगे कहा सतश्च योनिम असतश्च वो परमात्मा योनि ही कारण है और महर्षि ने खोला वो आदि कारण है प्रथम कारण है किनका सतह जो चक्षु आदि से जात होते हैं उनका जो स्थूल पदार्थ हैं उनका और असतश्च महर्षि ने खोला कि जो चक्षुरादि इंद्रियों से ज्ञात नहीं होते अगोचर हैं वे असत हैं उन सब का प्रथम कारण आदि कारण आप ही हो यदि हम सतह असतह इसका सामान्य अर्थ लें कि सत यानी जो विद्यमान है और असत यानी जो अविद्यमान है अविद्यमान अर्थात जिसका अभाव है शून्य है उसका भी परमात्मा कारण है तो असत यानी तो अविद्यमान कुछ होता नहीं है जिसका कि कोई कारण हो अविद्यमान तो अभाव है कुछ है ही नहीं वो जो कुछ है ही नहीं उसका कोई क्या कारण होगा तो महर्षि ने यहां पर अर्थ किया सतह जिसे हम विद्यमान देखते हैं जानते हैं और असतह जिसे हम नहीं जानते ये संसार हमें इतना बड़ा और इतना अधिक दिखाई देता है पृथ्वी सूर्य आदि चंद्र तारे इस पृथ्वी पर भी इतने पेड़ पौधे इतनी मिट्टी इतना पानी इतनी हवा इतने जीव जंतु बहुत दिखाई देते हैं इतनी साधन सामग्रियां बहुत अधिक दिखाई देते हैं और वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी से देखें या दूरदर्शी से देखें तो और भी बहुत कुछ दिखाई देता है लेकिन वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं आज कि ये जो दृश्य जगत है ये बहुत छोटा है ये जितना भी दिखाई दे रहा है इतना बड़ा होते हुए भी वो बहुत थोड़ा है अदृश्य इससे भी अधिक है जिसे हम आज भी नहीं जान पाए जब वैज्ञानिक इस संसार की व्याख्या करते हैं नियमों को बताते हैं तो बहुत सारे स्थल ऐसे आते हैं जिनका उनके पास कोई उत्तर नहीं है ये कैसे हो गया यदि दृश्य जगत के नियम लगाएं भौतिक पदार्थों के नियम लगाएं तो उनके अनुसार तो वहां काम नहीं हो रहा होता है कुछ भिन्न हो रहा है और वो अनुमान करते हैं कि ये कार्य ऐसे हो रहा है और दृश्य के कारण से नहीं हो रहा है कोई ना कोई अदृश्य अवश्य है कोई बल है कोई शक्ति है कोई पदार्थ है जिसका हमें ज्ञान नहीं हो रहा है और जो यहां प्रभाव डाल रहा है क्योंकि वहां दृश्य जगत के नियम लागू नहीं होते हैं इस आधार पर वो अनुमान करते हैं आज के अत्याधुनिक वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करते हैं ये जात तो बहुत थोड़ा है बीस तीस प्रतिशत बाकी सारा तो अज्ञात है अज्ञेय है तो मंत्र कहता है सतश्च योनि असतश्च आप सत के इंद्रिय गम्य जो है उसके तो कारण हो ही आदि कारण हो ही और जो असत है जो ज्ञात नहीं हो रहा है इंद्रिय आदि से उसके भी आप कारण हो आदि कारण आप हो महर्षि ने बहुत अच्छा अर्थ यहां पर किया इंद्रिय ग्राह्य और इंद्रिय से अग्राह्य इंद्रिय से अगोचर और जो असत है जो इंद्रिय गोचर नहीं है उसको भी मानना होता है जो वैज्ञानिक विद्यमान और प्रत्यक्ष पर ही अधिक जोर देते हैं अनुमान का भी बहुत अधिक उपयोग करते हैं और आज का विज्ञान इस बात को कह रहा है कि सत से अधिक असत है जात से अधिक अज्ञात है उस अज्ञात का भी उनको अनुमान से संभावना से बोध हो रहा है वो परिकल्पना कर रहे हैं कि अवश्य है कुछ ना कुछ उस दृष्टि से जो उच्च वैज्ञानिक है सामान्य विज्ञान पढ़ा हुआ प्रत्यक्ष पे बहुत जोर दे देता है लेकिन जो उच्च श्रेणी के वैज्ञानिक हैं आज की दुनिया के हजारों ऐसे वैज्ञानिक वो असत को अज्ञात को ज्यादा मानते हैं और ज्ञात को कम मानते हैं उस सब का आदि कारण परमात्मा है आदि कारण को महर्षि ने खोला प्रथम कारण जैसे किसी कार्य को करें उसमें बहुत सारी साधन वस्तुएं कारण होते हैं साधारण कारण भी हैं उपादान कारण भी हैं और करने वाला करता भी है इन सब में उस कार्य को करने का प्रथम उद्भव कहां हुआ कहां से प्रारंभ हुआ ये कार्य जगत या कोई भी वस्तु घड़ा बना तो सबसे पहले कहां से प्रारंभ हुआ उसका आदि किसे माने प्रारंभ किसे माने मिट्टी को प्रथम माने या चाक को डंडे को प्रथम माने या बनाने वाले को प्रथम माने किसको प्रथम माने कारण तो ये सब हैं जल को प्रथम माने किसी भी कार्य का प्रथम करने वाला वो चेतन स्वीकार करना होगा परमात्मा इस सृष्टि के बनने से पहले भी विद्यमान था पुरस्तात और प्रथमम वही इनका आदि कारण है यदि वो नहीं हो यदि वो प्रवृत्त ना हो यदि वो इच्छा ना करे इक्षण ना करे तो ये संसार बन नहीं सकता बनाया नहीं जा सकता किसी के भी द्वारा इस दृष्टि से परमात्मा प्रथम कारण है आदि कारण है इस संसार का उपादान कारण है वो इन शब्दों से नहीं आता है तो हम परमात्मा को ही इस सब का आदि कारण स्वीकार करें और महर्षि ने जो अंत में लिखा इससे इन सब कारणों से जो मंत्र में परमात्मा की व्याख्या की गई परमात्मा के विशेषण दिए गए इन सब कारणों से चूंकि परमात्मा ऐसा ऐसा है इसलिए हम क्या समझें उसे तो इससे इस जगत के माता पिता आप ही हैं परिवार के माता पिता की तरह वो अकेला परमात्मा ही इस पूरे संसार का माता और पिता है ये हमें स्वीकार करना है और चूंकि वही इन सब का माता पिता है इसलिए हम लोगों के भजनीय इष्टदेव भी आप ही हैं आपको ही हम भजें आपकी ही आज्ञा के अनुसार चलें आपका स्मरण हमें सदा बना रहे आपने इस सृष्टि को क्यों बनाया है ये भाव हमारे मन में सदा बना रहे और आप ही हमारे पालन करता है रक्षक हैं ये भाव हमारे मन में बना रहे ये आर्यों को परमात्मा की स्तुति करने की विधि इस मंत्र में दी गई है इस प्रकार का हमें मन में भाव रखते हुए परमात्मा को स्मरण रखना चाहिए आर्यों का परमात्मा के प्रति विचार ऐसा ही बना रहे ये वेद की आज्ञा है ये परमात्मा का निर्देश है ऐसा हमारे मन में हो सके इन भावनाओं के साथ में ओम का उच्चारण Oh.